बराबर हैं जो तुम में बात आहिस्ता कहे और जो आवाज से और जो रात में छुपा है और जो दिन में राह चलता है